एन e द्वारा प्रस्तुत ये श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम पहले दूसरे और तीसरे कैसेट में तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 20 पत्र सुने और अब सुनो 21वां पत्र और हिंदुस्तान प्रिय इंदु हमने देखा कि आरंभिक सभ्यता मेसोपोटामिया मिस्र और भूमध्य सागर के छोटे से टापू क्रीट में शुरू हुई और विकसित हुई लगभग उसी समय में चीन और हिंदुस्तान में भी ऊंचे दर्जे की सभ्यता शुरू हुई और अपने ढंग से विकसित हुई दूसरी जगहों की तरह चीन में भी लोग बड़ी नदियों की घाटियों में आबाद हुए ये उस जात के लोग थे जिन्हें मंगोल कहते हैं वे कांसे के खूबसूरत बर्तन बनाते थे और बाद में लोहे के बर्तन भी बनाने लगे नहरें और अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गईं और लिखने का एक नया ढंग निकाला गया ये लिखावट हिंदी उर्दू या अंग्रेज़ी से बिल्कुल नहीं मिलती ये एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट थी हर शब्द और कभी कभी छोटे छोटे जुमलों की भी तस्वीर होती थी प्राचीन मिस्र क्रीट और बेबीलोन में भी तस्वीरदार लिखावट होती थी उसे अब चित्रलिपि कहते हैं तुमने ये लिखावट अजायब घरों और कुछ किताबों में देखी होगी मिस्र और पश्चिमी मुल्कों में यह लिखावट सिर्फ बहुत पुरानी इमारतों में पाई जाती है एक लंबे समय से वहां किसी ने इस लिखावट का प्रयोग नहीं किया है लेकिन चीन में अब भी एक किस्म की तस्वीरदार लिखावट मौजूद है और वो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है अंग्रेजी या हिंदी की तरह बाएं से दाईं तरफ या उर्दू की तरह दाएं से बाईं तरफ नहीं हिंदुस्तान में पुराने ज़माने की बहुत सी इमारतों के खंडहर शायद अभी तक ज़मीन में और बालू के नीचे दबे पड़े हैं जब तक उन्हें कोई खोद कर नहीं निकालता तब तक वे हमसे ऐसे ही छुपे रहेंगे लेकिन उत्तर में कुछ बहुत पुराने खंडहर मिले हैं ये तो हमें मालूम ही है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्यों के हिंदुस्तान आने से भी पहले यहाँ द्रविड़ जात के लोग रहते थे और उनकी सभ्यता बड़े ऊंचे दर्जे की थी वे दूसरे मुल्क वालों के साथ व्यापार करते थे वे अपना बनाया हुआ बहुत सा सामान मेसोपोटामिया और मिस्र भेजा करते थे ख़ास तौर से वे समुद्री रास्ते से चावल और मसाले जैसे काली मिर्च और मकान बनाने के लिए सागौन की लकड़ी भेजा करते थे कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के और शहर के कुछ प्राचीन महल सागौन की लकड़ी से बनाए गए थे जो दक्षिण भारत से भेजी गई थी ये भी कहा जाता है कि सोना मोती हाथी दांत मोर और बंदर हिंदुस्तान से पश्चिम के मुल्कों को भेजे जाते थे इससे मालूम होता है कि उस जमाने में हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में काफ़ी व्यापार होता था व्यापार तभी हो सकता है जब लोग सभ्य हों उस जमाने में हिंदुस्तान और चीन में छोटी छोटी रियासतें या राज्य हुआ करते थे इनमें से कोई भी मुल्क एक सरकार के अधीन नहीं था हर छोटे शहर की जिसमें कुछ गांव और खेत आते थे अपनी अलग सरकार होती थी ये शहरी रियासतें कहलाती हैं उस पुराने ज़माने में भी इनमें से बहुत सी रियासतों में गणतंत्र था कोई राजा नहीं थे बस एक तरह की चुनी हुई पंचायत होती थी जो रियासत का इंतज़ाम देखती थी इनमें से कुछ छोटे छोटे राज्य थे हालांकि इन शहरी रियासतों की अपनी अपनी सरकारें होती थीं लेकिन कभी कभी वे एक दूसरे के साथ सहयोग किया करते थे यानी एक दूसरे की मदद किया करते थे कभी कभी एक बड़ी रियासत कई छोटी रियासतों की नेता बन जाती थी इन छोटी छोटी रियासतों की जगह जल्दी ही एक बहुत बड़ी रियासत या साम्राज्य बन गया इसी साम्राज्य के दिनों में चीन की विशाल दीवार बनाई गई थी तुमने इस दीवार के बारे में पढ़ा होगा कि वो कितनी विशाल चीज है वो समुद्र तट से लेकर उत्तर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक बनाई गई थी ताकि मंगोल जाति के और लोग चीन में न घुस सकें यह दीवार 1400 मील लंबी 20 से 30 फीट तक ऊंची और 25 फीट चौड़ी है थोड़ी थोड़ी दूर पर इसमें किले और बुर्ज बने हुए हैं इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि अगर ऐसी दीवार हिंदुस्तान में बनाई जाती तो वो उत्तर में अमृतसर से लेकर दक्षिण में मद्रास तक चली जाती चीन की विशाल दीवार अब भी मौजूद है और अगर तुम चीन जाओ तो उसे देख सकती हो समुद्री सफर और व्यापार प्रिय इंदु फिनिशियन भी पुराने जमाने की एक सभ्य जाति थी वे यहूदियों और अरबों की जाति के ही थे वे खासकर एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर रहते थे जो आजकल का तुर्की है उनके खास शहर एकर टायर और सिडोन थे जो भूमध्य सागर के किनारे बसे थे वे व्यापार के लिए लंबे सफर करने में मशहूर थे वे पूरे भूमध्य सागर में घूमते थे और समुद्र के रास्ते से इंग्लैंड तक चले जाते थे शायद वे हिंदुस्तान भी आए हों अब हमें दो बड़ी बड़ी बातों की दिलचस्प शुरुआत का पता चलता है समुद्री सफ़र और व्यापार एक को दूसरे से मदद मिलती थी आजकल की तरह उस जमाने में अच्छे स्टीमर और जहाज नहीं थे सबसे पहली नाव किसी दरख्त के तने को खोखला करके बनाई गई होगी इन्हें चलाने के लिए चप्पू का इस्तेमाल किया जाता था और कभी-कभी हवा के जोर का प्रयोग करने के लिए पाल लगाए जाते थे उस जमाने में समुद्री सफर बहुत दिलचस्प और उत्तेजनापूर्ण रहे होंगे सोचो चप्पू और पाल वाली एक छोटी सी कश्ती से अरब सागर पार करना उसमें चलने फिरने के लिए बहुत कम जगह रहती होगी और हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे तले ऊपर कर देता होगा और अक्सर वो डूब भी जाती होगी खुले समुद्र में एक छोटी सी कश्ती पर निकलना बहादुरों का ही काम था उसमें बड़े खतरे थे और कश्ती में सवार लोगों को कई बार महीनों तक ज़मीन दिखाई नहीं देती थी अगर खाना कम पड़ जाता था तो उन्हें बीच समुद्र में कोई चीज नहीं मिल सकती थी जब तक कि वे किसी मछली या चिड़िया का शिकार न करें समुद्र जोखिम भरा और रोमांचक था पुराने जमाने के नाविकों की और समुद्र में हुई अजीबोगरीब घटनाओं की बहुत सी कहानियां हैं लेकिन इस जोखिम के होते हुए भी लोग समुद्री सफर पर निकलते थे मुमकिन है कि कुछ लोग इसलिए सफर पर निकलते हों कि उन्हें जोखिम उठाने में मजा आता था लेकिन ज़्यादातर लोग सोने और दौलत के लालच में सफ़र करते थे वे व्यापार करने जाते थे माल खरीदते थे और बेचते थे और धन कमाते थे व्यापार क्या है और वो कैसे शुरू हुआ आज तुम बड़ी-बड़ी दुकानें देखती हो और उनमें जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद लेना कितना आसान है लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो चीज़ें तुम खरीदती हो वे आती कहाँ से हैं तुम इलाहाबाद की एक दुकान में एक शॉल खरीदती हो हो सकता है कि वो दूर कश्मीर से आया हो और उसका ऊन कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ियों में रहने वाली भेड़ों के बालों से बनाया गया हो टूथपेस्ट जो तुम खरीदती हो शायद जहाज और रेलगाड़ियों पर होता हुआ अमेरिका से आया हो इसी तरह चीन जापान पेरिस या लंदन की बनी हुई चीज़ें भी तुम खरीद सकती हो विलायती कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को लो जो यहाँ बाजार में बिकता है इसकी रुई हिंदुस्तान में पैदा हुई और फिर इंग्लैंड भेजी गई एक बड़े कारखाने ने इसे खरीदा साफ किया उसका सूत बनाया और तब कपड़ा तैयार किया ये कपड़ा फिर हिंदुस्तान आया और बाजार में बिकने लगा बाजार में बिकने से पहले इसने आने जाने में कितने हजार मील का सफर तय किया ये कितनी बेवकूफ़ी की बात मालूम होती है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली रुई इतनी दूर इंग्लैंड भेजी जाए और वहां उसका कपड़ा बने और फिर हिंदुस्तान आए यह समय पैसे और शक्ति की कैसी बर्बादी है रुई का कपड़ा हिंदुस्तान ही में बनाना ज्यादा सस्ता और अच्छा होता तुम जानती हो कि हम विलायती कपड़े न खरीदते हैं न पहनते हैं हम खद्दर पहनते हैं क्योंकि जहाँ तक मुमकिन हो अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ों को ख़रीदना ज़्यादा समझदारी की बात है हम इसलिए भी खद्दर ख़रीदते और पहनते हैं क्योंकि उससे उन गरीब आदमियों की मदद होती है जो उसे काटते और बुनते हैं अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि आजकल व्यापार कितनी पेचीदा चीज़ है बड़े-बड़े जहाज़ एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क को पहुंचाते रहते हैं लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था लेकिन शुरू में जब आदमी एक जगह बसने लगे तो बहुत कम व्यापार होता था आदमी को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ अपने आप लानी पड़ती या बनानी पड़ती ये सच है कि उस वक्त आदमी को बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उसके बाद जैसा तुमसे पहले कह चुका हूँ कबीले में काम का बंटवारा शुरू हुआ लोग अलग अलग किस्म के काम करने लगे और तरह तरह की चीज़ें बनाने लगे कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि एक कबीले के पास एक चीज़ ज़्यादा होती होगी और दूसरे कबीले के पास दूसरी चीज़ इसलिए चीज़ों की अदला बदली उनके लिए स्वाभाविक बात थी मिसाल के तौर पर एक कबीला एक बोरे अनाज के लिए एक गाय दे देता होगा उस जमाने में रुपया पैसा तो था नहीं सिर्फ चीज़ों की अदला बदली होती थी इस तरह विनिमय शुरू हुआ इसमें कभी कभी दिक्कत पैदा होती रही होगी एक बोरे अनाज या इसी तरह की किसी दूसरी चीज़ के लिए आदमी को एक गाय या कुछ भेड़ें ले जानी पड़ती होंगी लेकिन फिर भी व्यापार बढ़ता गया जब सोने और चांदी का पता चला तो लोगों ने उन्हें व्यापार के लिए काम में लाना शुरू किया उन्हें साथ ले जाना ज़्यादा आसान था और धीरे-धीरे माल के बदले सोना या चांदी देने का रिवाज चल पड़ा जिस आदमी को पहले पहल ये बात सूझी होगी वो सचमुच बहुत होशियार रहा होगा सोने चांदी के प्रयोग ने व्यापार को बहुत आसान बना दिया लेकिन उस वक्त भी आजकल की तरह सिक्के नहीं थे सोना तराजू पर तोलकर दूसरे को दे दिया जाता था उसके बहुत समय बाद सिक्कों का रिवाज शुरू हुआ और इन्होंने व्यापार और विनिमय को और भी आसान बना दिया तब तौलने की जरूरत नहीं रही क्योंकि सभी को सिक्के की कीमत मालूम थी आजकल सब जगह सिक्कों का रिवाज है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि रुपया पैसा अपने आप में कोई कीमत नहीं रखता बस हमें अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें लेने में मदद करता है ये माल की अदला बदली में भी मदद करता है तुम्हें राजा मीडास की कहानी याद होगी जिसके पास सोना तो बहुत था लेकिन खाने को कुछ नहीं इसलिए रुपया तब तक बेकार है जब तक कि हम उससे ज़रूरत की कुछ चीज़ न खरीदें आजकल भी तुम्हें देहातों में ऐसे लोग मिलेंगे जो सचमुच चीज़ों की अदला बदली करते हैं और पैसे नहीं देते लेकिन आमतौर पर रुपया काम में लाया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा सुविधाजनक है बाज नादान लोग समझते हैं कि रुपया खुद बहुत अच्छी चीज़ है और वे उसे खर्च करने के बदले बटोरते और जमा करते रहते हैं इससे पता चलता है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि रुपए का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और ये दरअसल क्या है भाषा लिखावट और अंक प्रिय इंदु हम विभिन्न भाषाओं का पहले ही जिक्र कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि वे कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं थोड़ी देर के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई होगी हम देखते हैं कि कुछ जानवरों की कुछ बोलियां होती हैं कहा जाता है कि कुछ सामान्य बातों के लिए बंदर कुछ आवाजें और बोलियां इस्तेमाल करते हैं तुमने गौर किया होगा कि कुछ जानवर जब डर जाते हैं और अपने साथियों को खतरे से सावधान करना चाहते हैं तो अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं शायद इसी तरह आदमियों में भी भाषा की शुरुआत हुई शुरू में बहुत सीधी सादी आवाज़ें रही होंगी डर की आवाज़ और चेतावनी की आवाज़ इसके बाद शायद शारीरिक श्रम की आवाज़ें शुरू हुई जब बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं तो वे मिलकर एक तरह का शोर मचाते हैं क्या तुमने लोगों को कोई चीज खींचते या कोई भारी बोझ उठाते नहीं देखा है ऐसा मालूम होता है कि एक साथ आवाज लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है शारीरिक श्रम की यही आवाजें शायद वो पहले शब्द रहे होंगे जो आदमी ने इस्तेमाल किए धीरे धीरे और शब्द बनते गए होंगे साधारण शब्द जैसे पानी आग घोड़ा भालू पहले शायद सिर्फ संज्ञाएं ही थीं क्रियाएं नहीं थीं अगर कोई आदमी ये कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है तो वो सिर्फ एक शब्द कहता होगा भालू <laughs> और बच्चों की तरह इशारा करता होगा उस वक्त लोगों में बहुत कम बातचीत होती होगी धीरे धीरे भाषा विकसित हुई पहले छोटे छोटे जुमले आए फिर बड़े बड़े किसी एक समय में अलग अलग जातियों के लोगों की एक भाषा नहीं रही होगी फिर भी कोई जमाना ऐसा जरूर था जब बहुत सी भाषाएं नहीं थीं जैसा कि मैं तुमसे कह चुका हूं कि तब कुछ ही भाषाएं थीं मगर बाद को इनमें से हर एक भाषा से अनेक भाषाएं विकसित हुईं प्राचीन सभ्यता के समय जिसका हम जिक्र कर रहे हैं भाषा काफी विकसित हो चुकी थी उन दिनों बहुत से गीत प्रचलित थे जिन्हें भाट और गवैये गाया करते थे उन दिनों लिखने का या किताबों का रिवाज नहीं था इसलिए लोगों को काफी कुछ याद रखना पड़ता था तुकबंदियों और कविताओं को याद रखना ज्यादा आसान होता इसलिए हम देखते हैं कि उन मुल्कों में जहां प्राचीन सभ्यता थी तुकबंदियों और लड़ाई के गीतों का बहुत रिवाज था भाटों और गवैयों को वीर गति को प्राप्त हुए बहादुरों की प्रशंसा में गीत गाना बहुत अच्छा लगता था उस जमाने में लोगों की युद्ध में सबसे ज्यादा रुचि होती थी इसलिए ये गीत भी युद्ध में दिखाई वीरता के बारे में है ये हम हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी पाते हैं लिखने की शुरुआत भी बहुत मज़ेदार है मैं चीनी लिखावट का जिक्र कर चुका हूँ सभी लिखावट तस्वीरों से शुरू हुई होंगी जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा उसे मोर की तस्वीर या खाका बनाना पड़ता होगा हाँ इस तरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकता होगा धीरे धीरे तस्वीरें सरल होती गई होंगी इसके बहुत समय बाद अक्षरों के बारे में सोचा गया होगा और उनका विकास हुआ होगा इससे लिखना बहुत आसान हो गया और तेजी से तरक्की होने लगी अंकों और गिनती की खोज बड़े मार्के की बात रही होगी गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता जिस आदमी ने अंकों का आविष्कार किया वो बहुत प्रतिभाशाली और होशियार आदमी रहा होगा पहले पहल यूरोप में अंक बहुत बेढंगे थे रोमन अंकों को तुम जानती हो ना ये बहुत बेढंगे होते हैं और इन्हें काम में लाना मुश्किल है लेकिन आजकल हम हर भाषा में जिन अंकों को काम में लाते हैं वे बहुत अच्छे हैं मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस वगैरह अंकों की बात कह रहा हूँ इन्हें अरबी अंक कहा जाता है क्योंकि यूरोप वालों ने इन्हें अरब जाति से सीखा था लेकिन अरब वालों ने इन्हें हिंदुस्तानियों से सीखा था इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज़्यादा मुनासिब होगा लेकिन मैं बहुत तेज़ी से बढ़ा जा रहा हूँ अभी हम अरब जाति तक नहीं पहुँचे हैं लोगों के विभिन्न वर्ग प्रिय इंदु लड़के लड़कियों और वयस्कों को भी अक्सर इतिहास एक अजीब ढंग से पढ़ाया जाता है वे राजाओं और दूसरे आदमियों के नाम और लड़ाइयों की तारीखें याद कर लेते हैं लेकिन इतिहास लड़ाइयों का और उन गिने चुने लोगों का ब्यौरा नहीं है जो राजा या सेनापति बने इतिहास का काम है कि वो हमें किसी मुल्क के लोगों के बारे में बताए कि वे किस तरह रहते थे क्या करते थे और क्या सोचते थे उसे हमें उनकी खुशियों और उनके दुख के बारे में बताना चाहिए और ये कि उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आईं और उन्होंने उन पर कैसे विजय पाई और अगर हम इतिहास को इस ढंग से पढ़ें तो हमें उससे बहुत सी बातें मालूम होंगी और अगर हमें उसी तरह की किसी कठिनाई या आफत का सामना करना पड़ेगा तो इतिहास का अध्ययन हमें उस पर विजय पाने में मदद करेगा ख़ास तौर से पुराने ज़माने का हाल पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि लोग पहले से बेहतर हो रहे हैं या बदतर उन्होंने कुछ तरक्की की है या नहीं ये सच है कि हमें पुराने ज़माने के महान व्यक्तियों के जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि पुराने ज़माने में विभिन्न जातियों के आम लोगों की स्थिति क्या थी मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे हैं ये इस श्रृंखला का चौबीसवा खत है लेकिन अभी तक हमने बहुत पुराने ज़माने की ही चर्चा की है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है इसे हम इतिहास नहीं कह सकते हम इसे इतिहास की शुरुआत या इतिहास का उदय कह सकते हैं जल्दी ही हम बाद के ज़माने का जिक्र करेंगे जिसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम है और जिसे ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है लेकिन प्राचीन सभ्यताओं को छोड़ने से पहले आओ हम उन पर दोबारा नज़र डालें और ये देखें कि उस ज़माने में कितनी अलग अलग जातियों के लोग रहते थे हम ये देख चुके हैं कि कैसे पुराने कबीलों में लोगों ने अलग अलग तरह के काम करने शुरू किए और इस तरह काम का बंटवारा हो गया हमने ये भी देखा कि कबीले के नेता या सरगना ने किस तरह अपने परिवार को दूसरों से अलग कर लिया और सिर्फ काम का इंतज़ाम करने लगा वो एक ऊंचे दर्जे का आदमी बन गया या यूं समझ लो कि उसका परिवार औरों से अलग वर्ग में आ गया इस तरह हमें लोगों के दो वर्ग मिलते हैं एक वो जो इंतज़ाम करता था और हुक्म देता था और दूसरा वो जो असली काम करता था और जाहिर है कि इंतज़ाम करने वाले वर्ग के अधिकार ज़्यादा थे और इसके बल पर वो जितनी चीजें ले सकते थे ले लेते थे काम करने वाले लोगों से ज्यादा लेते लेते ये लोग रईस हो गए इस तरह जैसे-जैसे काम का बंटवारा हुआ कई वर्ग पैदा होते गए राजा और उसका परिवार था और उसके दरबारी भी थे वे मुल्क का इंतजाम और उसकी हिफाजत के लिए लड़ाई करते थे आमतौर पर वे कोई दूसरा काम नहीं करते थे फिर मंदिरों के पुजारी और मंदिरों से जुड़े और लोग थे उस जमाने में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते थे और हम उनका जिक्र फिर करेंगे तीसरा दर्जा व्यापारियों का था ये वो सौदागर लोग थे जो एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क में ले जाते थे माल खरीदते थे और बेचते थे और दुकानें खोलते थे चौथा दर्जा कारीगरों का था यानी वो लोग जो हर किस्म की चीज़ें बनाते थे सूत काटते थे और कपड़ा बुनते थे मिट्टी के बर्तन और पीतल का सामान बनाते थे सोने और हाथी दांत की चीज़ें बनाते थे और बहुत से काम करते थे ये लोग अक्सर शहरों में या शहरों के नज़दीक रहते थे लेकिन बहुत से लोग देहातों में भी बसे हुए थे सबसे नीचा दर्जा उन किसानों और मज़दूरों का था जो खेतों में या शहरों में काम करते थे इस वर्ग में सबसे ज्यादा लोग थे और सब वर्गों के लोग उनसे कुछ न कुछ ऐंठने की कोशिश करते रहते थे